जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा देह के माला तिलक और भस्म नहीं कुछ काम के देह के माला तिलक और भस्म नहीं कुछ काम के प्रेम भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा दिल का दर्पण साफ कर और दूर कर अभिमान को दिल कदर पर साफ कर और दूर कर अभिमान को खाक हो गुरु के चरण की तो प्रभु मिल जा करने की तो प्रभु मिल जाएगा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में ध्यान धर हरि के चरण का फिर जन्म नहीं आएगा ध्यान घर हरि के चरण का फिर जन्म नहीं आएगा जो बजे हरि को सदा जो बजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा दृढ़ भरोसा रख के मन में जो भजे हरि नाम को दृढ़ भरोसा रख के मन में जो भजे हरि नाम को कहत ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद में मिल जाएगा कहत ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद में मिल जाएगा जो भजे हरि को सदा भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा